जैसे आप आज ये मान रहे हैं दिमाग है कि बीस वर्ष जीऊंगा चालीस जीऊंगा पचास आज तो ये मान रहे ना साधक जी और जब निश्चित काल हुआ ना आपका कि एक समय ऐसा आएगा वो आएगा निश्चित आएगा उसको कोई हटा नहीं सकता पूरे बुढ़े की तरह हो जाऊंगा राख की वो आज ऐसा दिखाई देगा जैसे आज ही आ गया वो काल इतना प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर क्योंकि वो शत प्रतिशत निर्णय हो गया ऐसा काल आएगा ही ऐसा काल था ही दोनों ओर जाएगा ही जब दोनों ओर जाएगा तो कारण रूप प्रकृति ऐसी थी ये कार्य जगत है ये ये ना जो आप देख रहे ये कार्य जगत उसका दूसरा रूप है प्रकृति का ये कारण रूप में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो प्रलभ दिखाई देगा और शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से शत प्रतिशत सत्य है ऐसा था ही <laughs> ऐसा होगा ही तो दो रूप हमारे सामने आएंगे ना दो ढंग से देखेंगे तो अब ये संसार कार्य रूप है परंतु जब हम देखते हैं तो कारण रूप से कार्य रूप में आया तो कारण रूप में था तो ये ऐसा था अब कारण में बदलेगा तो ऐसा होगा तो आपके दिमाग में सारा कारणवत आपने बुद्धि में बनाया तो संसार की प्रलवत अवस्था बन जाएगी अमित जी एक प्रश्न है जैसे आपने कहा कि आकाश जल वायु कुछ नहीं रहेगा तो हमारी बुद्धि में ये नहीं बैठती कि फिर उस प्रलय समय क्या रहेगा प्रमाण प्रकृति प्रकृति रहेगी प्रकाश आदि कुछ नहीं रहेगा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा यही तो बात है जैसे आपने सुना था अभाव नहीं होगा फिर से सुनिए अभाव था भी नहीं और प्रलय होगा ना जब आगे वो प्रलय होगा निश्चित है पर अभाव नहीं होगा किसी का ये ये सिद्धांत बनेगा हाँ जी संसार नहीं देखता है हाँ संसार को इकट्ठा कर तो क्या होगा हाँ, हाँ कोई बात नहीं आप संसार को इकट्ठा कर लो हाँ संसार रहेगा और जब परलय की स्थिति में देखना चाहेंगे तो परलय रहेगा दोनों दोनों चीज दिखाई देंगी यदि संसार को देखना चाहो संसार को देख लो <laughs> यदि परलय को देखना चाहो परलय को देख लो कोई आपत्ति नहीं है ये तात्पर्य है संसार को देखने से वृत्तियां उत्पन्न होती है हम रोक नहीं पाते तो समाधि नहीं लगती और जब प्रलय की स्थिति में पहुंचाते तो इन विविध पदार्थों से वृत्तियां जो उभरती उनको रोकने में बिल्कुल सुविधा हो गई ये प्रयोजन है ये सिद्ध होगा निश्चित समझ में आई साधक जी बात दोनों का जो प्रश्न उठाया था आई या नहीं आई वासुदेव जी कुछ समझ में आ रहा या और मोटा बनाऊ कोई इसको ये विज्ञान कितना गंभीर है कितना गहरा है उसके उत्तर कैसे मिलते हैं कैसे खोज करते हैं कैसे उत्तर से संतुष्ट हम होते हैं और कैसे उस पर जम के चलते हैं इसलिए सिखाया जा रहा है इस पर आप जम जाएंगे इसको यदि व्यवहारिक रूप देंगे तो आपको संसार का कोई पदार्थ भी सत्य मार्ग से वैदिक धर्म सन्मार्ग से वह हटा नहीं सकता आप भी नहीं हटा सकते और दूसरे भी नहीं हटा सकते नानक जी क्या समझे सत्य मार्ग को समझने में कोई भी वैदिक धर्म के मार्ग से हटा नहीं सकता तो दूसरी बा, बात और अपने आप को भी खुद हटा नहीं सकता हाँ ये नानक जी पकड़ने लगे ना बुद्धि को और ये पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं पता नहीं उन्होंने सुना दी ना दोनों बातें संसार के कोई भी व्यक्ति पदार्थ उसको मार्ग से हटा नहीं सकता और स्वयं भी अपने कुविचार अंदर के काम क्रोध लोभ मोह जन्म जन्मांत की वासना वो भी नहीं हटा सकती आया समझ में नहीं आया दोनों नहीं हटा सकते और यदि ऐसा नहीं समझेंगे व्यवहार में नहीं जाएंगे तो दोनों आपको का कचुम्बर निकालेंगे अब क्या समझ में आया <laughs> कुछ तो बोलो हा ना क्या समझ में आया बोलो हाँ जी आप बोलो संदीप जी यदि सत्य धर्म समझ में आ गया तो न तो हम स्वयं और न ही दूसरे हमें इस बात से हटा सकते हैं और न बाहर के लोग दोनों मारेंगे ये बातें ऐसी नहीं है जैसे कह दी है सुना दी है सुना देनी चाहिए सुनाते रहा करो ऐसा नहीं है ऐसा दिमाग मत बनाना ये शत प्रतिशत ज्यो का त्यो परिणाम निकलेगा जैसे सुनाया जा रहा है बिल्कुल जो का तो निकलेगा माने नहीं माने जाने नहीं जाने इस धारा से न सुनना इस परंपरा से भाई सुनाया करते हैं सुना करते हैं सुना देना चाहिए सुन लेना चाहिए <laughs> ऐसे नहीं मानना परिणाम ऐसा ही होगा साक्षात्कार तक लेके जाए सामने तो मजा आए बाहर का संसार विरोधी दिखता है हमारे मार्ग में पर स्वयं व्यक्ति अपना अत्यंत विरोधी है वो अपने आप को विरोधी रूप में नहीं देखता या कम देखता क्या समझे दोहरा लो हमारे लक्ष्य पर पहुंचने में ईश्वर प्राप्ति में संसार के लोग या संसार की बातें हमारे विरोध रूप में दिखाई देती है अत्यंत पर ये व्यक्ति स्वयं को अपने आप को अपना स्वयं का विरोधी नहीं देख रहा है या कम देख रहा है आ गया समझ हाँ जी एक प्रश्न जैसे आप प्रलय अवस्था के विषय में बताया स्वामी जी तो एक तो है कि आंख बंद करके बनाना और एक जैसे आप बताते हैं अपना प्रयोग कि मैं आंख खोल करके भी बना लेता हूँ तो जब आंख खोल करके आप बनाते हैं स्वामी जी तो आंख के सामने क्या स्थिति रहती है आंख के सामने ये स्थिति रहेगी मेरा ध्यान अंदर की ओर रहेगा बार में आंख ऐसे रूप में जैसे सोए हुए व्यक्ति की आंख दिखाई देती हूँ कभी आप सोया व्यक्ति खुली आंखें देख मिलेगा आपको वो देख कुछ नहीं रहा होगा नहीं देखा कभी तो उसमें बाहर के पदार्थ को हमें अंदर चित्र में नहीं उतरने देंगे रोक देंगे उतरने लगेगा तो उसको भी परले में बना देंगे हम व्यवहार कैसे करेंगे स्वामी जी फिर मैं बताता हूं व्यवहार जब करना हो तो क्या करेंगे ये परलव संसार कार्य रूप है कार्य रूप इसका नष्ट नहीं हुआ है परलवत देखते हुए खाएंगे पिएंगे सारे काम करेंगे और परलवत देखते रहेंगे तब तो प्रलय शायद नहीं रहेगा ना स्वामी जब हम खाएंगे जब उसको छुएंगे जब उसको देखेंगे हाँ तो हम दोनों रूप देखेंगे ना उसके दोनों रूप कारण रूप और कार्य रूप जब आप सत्कार्यवाद को देखते हैं तो सत्कार्यवाद को जब देखने लगेंगे तो उस पदार्थ को आप सत्वरजतम में देखेंगे उसी समय उसी पदार्थ को आप लोटे के रूप में देखेंगे दोनों को देखेंगे आप सत्कार्यवाद में कोई नई चीज नहीं आई है क्या समझे आप नहीं आ समझ में वो सत्वरजतम रजतम ही लोटा रूप है क्या समझे जाते सत्वर रजतम ही लोटा रूप है और वो लोटा रूप प्रकृति रूप है हाँ जी नानक जी आ समझ में या नहीं आया सत्वर रजतम ही लोटा रूप है दोनों को वो देखता रहेगा और प्रयोग करता रहेगा और जब केवल लोटा रूप देखता है वो व्यक्ति का तो कचरा ज्ञान है <laughs> नहीं समझे आप साधक जी वो दोनों जान अब ईश्वर कैसा देखता है इस संसार को आप देखो ईश्वर का अनुकरण करो <laughs> ईश्वर परलावस्था को भी देख रहा है और कार्य जगत को भी देख रहा है या नहीं ऐसा परलावस्था जैसी है उसको ज्यों का तो देख रहा है ईश्वर और कार्य जगत को भी ज्यों का तो देख रहा है नहीं उन्हें सर्वज्ञ है वो वास्तविकता ज्ञान की तो यही है कि परलय को परलय की स्थिति में देखो और कार्य को कार्य के रूप में देखो और ये भी जानो जो परलय में तत्व थे वही ये तत्व है कोई नया तत्व नहीं है क्या समझ में आया जो तत्व परलय में थे उनसे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है संसार में नानक जी नींद तो नहीं आएगी थक गए हो तो बंद करूं ये सारा विज्ञान व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना पड़ता है ये जो मैं सुना रहा इसके उतारने से निश्चित रूप से समाधि सिद्ध हो जाएगी इसमें कोई बाधा नहीं है कोई ऐसा अपवाद नहीं है कि आप ऐसा जाने और व्यवहार करें और समाधि ने लगे ये नहीं हो सकता प्रलय अवस्था बना के रोकना और वहां ये विज्ञान भी काम करता रहेगा मन जड़ पदार्थ जैसे क्योंकि हमारे अंदर संस्कार भी तो है ना संसार के क्यों समझे साधक ऐसा तो नहीं है वो संस्कार मर गए आपने ये पाठ पढ़ाई होगा मिथ्या निरोध संस्कार यो हो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध अक्षण चित्त चित्तान्वय निरोध परिणाम है ये दर्शनकार ने यही तो चित्र खेचा उसमें वित्थान निरोध संस्कारों के आधार पर वित्थान लौकिक संस्कार दबते जाते हैं और समाधि के संस्कार उभरते जाते हैं तो चंचलता सारी अवस्थाएं खत्म होती है और निरोध समाधि में पहुंच जाता है व्यक्ति फिर जब टूटती है समाधि तो निरोध संस्कार तो कमजोर हो गई और वित्थान संस्कार प्रबल हो गए तो संप्रजा असंप्रजा समाधि भंग होकर के वो वित्थान अवस्था आ गई इसके दो कारण है वो जीवात्मा भी करता है इस काम को क्या समझ में आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया आया नहीं आया नहीं आया वो निरोध संस्कारों को जीवात्मा उठा लेता है जान पूछ के वही समाधि में पहुंचूंगा मैं उसने वो उठा लिए वो संस्कार उभर गए और वित्थान वाले को दबाऊंगा मैं उनको दबा लेता है तो समाधि की उत्पत्ति हो जाएगी स्थान में आने के पश्चात फिर उसने क्या किया विद्वान संस्कारों को मैं उभारूंगा ये देखूंगा वो देखूंगा वो चाहिए मान और वो उभारे उसने जीवात्मा विद्वान संस्कार उभर गए जीव के उभारने से और निरोध संस्कार दब गए तो समाधि भंग हो गई और सांसारिक अवस्था आ गई ये जीवात्मा करता है और कहीं कहीं कहीं कहीं ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां जीवात्मा नहीं करता तमोगुण आदि के कारण से होती है पर सहयोग जीवात्मा का रहता है साधक जी क्या समझ में आया तो जड़ पदार्थ अपने आप उस अवस्था में नहीं आ सकता जीवात्मा ही वहां जीवात्मा के बस की बात नहीं रहती है कैसी अवस्था होती है जैसे नींद आएगी ना आप समझे नहीं समझे ऐसी चीजें जो वहां जीवात्मा जाता हुआ भी उसको नहीं हटा पाएगा जैसे क्लोरोफार्म सुंगा दे योगी को आप समझे नहीं समझे क्यों साधे काट दिया उन नाड़ियों से क्या करेगा ना ना इतना तो बना रहेगा वो जीवन जीवन तो जीवात्मा शरीर को जीवन की शक्ति तो देता रहेगा परंतु विथान अवस्था को नहीं रोक सकेगा अब समझ में आया या नहीं आया हुँ? हम्म? आ गया ऐसी स्थिति व्यवस्था से होती है अति रुगुण क्लोरफांसुंगाओ जैसी स्थिति अति तमोगुण से गाढ़ निद्रा आएगी बलात् कई दिन सोए नहीं आप वो जीवात्मा चाहता हो भी नहीं रोक पाएगा और एक स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा अपने आप को ले जाता है वित्थान अवस्था को रोक देता है एक स्थिति ऐसी है वित्थान अवस्था को उभार लेता है जीवात्मा और वो निरोध समाधि को छोड़ देता है वंचित हो जाता है वो नहीं रहती वो जीवात्मा उसको बुद्धिपूर्वक करता है स्वतंत्रता से करता अब आप ध्यान देंगे आप जैसे आजकल के लोग विद्यार्थी पढ़ने पढ़ाने वाले जैसे रहते हैं जैसे वो पढ़ते पढ़ाते हैं जैसे वो विचार करते हैं जैसे लौकिक उद्देश्य बनाते हैं प्रयोजन उनके सामने होते हैं इनको यदि आप सामने रखते हैं इनको को सामने लेके चलते तो आप इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे आगे बात समझ में पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा उन बातों का ध्यान करना स्वस्वामी संबंध को छोड़ देना परित्याग कर देना और ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मानना ये बहुत बड़ा कारण है ईश्वर को मानना उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला और सर्वस्व का स्वामी मानना और मन वचन कर्म से व्यवहार में मानते रहना अपना स्वामित्व छोड़ देना बहुत बड़ा कारण है फिर दूसरा भाग संसार पहले प्रलय जैसी अवस्था में था और आगे निश्चित रूपेण ऐसे ही होगा ऐसे अनित्य पदार्थ को अनित्य जानना और दिन भर उसको अनित्य देखते रहना संसार आगे बढ़ी असूची शरीर आदि अशुद्ध है अधर्म आचरण अशुद्ध है ये दो भाग बनाओ असूची के यमनियमों के विरुद्ध आचरण धर्म से विपरीत आचरण अशुद्ध है शरीर आदि भी मनमूत्र के भरे हुए अशुद्ध हैं इसको समझना और इसको दिन भर बनाए रखना तीसरी बात संसार में सुख है क्षणिक है उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है उसको समझना और दिन भर ऐसे ही समझते रहना हाँ वो दुख रूप है हाँ दुख रूप है ऐसे ही समझते रहना ये कारण चौथे भाग इन सारे देहधारियों को मनुष्यों को पशु पक्षी को फिर इंद्रियों को फिर बुद्धि को फिर मन को इनको जड़ समझना ईश्वर चेतन हम भी चेतन उसको चेतन समझना कुछ तो समझ में आया होगा वासुदेव जी और दिन भर ऐसे ही समझते रहना तो आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे और फिर औरों को करवा सकेंगे आज आप आ गए थे इसलिए भी और समय वो दूसरे दिनों भी कुछ बढ़ा देते हैं दस मिनट पंद्रह मिनट आज और समय इसलिए बढ़ा दिया कि आप आ गए और ये इतना सुनेंगे सुनाएंगे समझेंगे ये मैंने सुनाया अब विराम दुष्चरिता दे बाधयस्वा उमा सुचरिते भजे उदायुषा सुवायुषोदस्थाम् अमृता सम्मान्य विद्वदगण अन्य उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों आप अपने जीवन को कृत्यता तक कैसे पहुंचा सकते हैं अपने जीवन को सफल बना करके समाज को राष्ट्र को और विश्व को भी वह मार्ग दिखा सकते हैं यह आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये विद्या पढ़ाई जा रही है एक भाग था उसका आपकी उन्नति का संस्कृत भाषा का विशेष परिज्ञान उसका एक भाग है संस्कृत वार्तालाप संस्कृत में प्रवचन संस्कृत बोलना संस्कृत में बातचीत करना और उसमें प्रवचन भी दे सकना एक भाग है ये संस्कृत का आप ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा आपको संस्कृत भाषा अच्छे प्रकार से पढ़ने आ जाए अच्छे प्रकार से पढ़ाने भी आ जाएगी अच्छे प्रकार से आप उसमें प्रवचन देना भी सीख जाएंगे और परस्पर अथवा विद्वानों से वार्तालाप करना भी आप सीख जाएंगे तो थोड़ा सा प्रयोग करते हैं आपने संस्कृत भाषा में उत्तर देना है आर्य समाज से है नियमा संति रणवीर महोदय आर्य समाजस्य दस नियमाः सन्ति आर्य द्वितीय है नियम कथम अस्ति आर्य नियम एवं नियमः यद ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा ईश्वर सत अस्ति सत् शब्दस्य को अर्थ है तस्य ईश्वरस्य भावः अर्थात् सत्ता अस्ति यथा प्राकृतिक पदार्थानां सत्ता अस्ति तथैव ईश्वर प्राकृतिक पदार्थानां तु सत्ता ईदृशी अस्ति कालान्तरे तेषां यथा दूना सत्ता अस्ति तथैव न अवतिष्ठति ईश्वरस्य भी एवं सत्ता अस्ति न भगवान् तत्तु सर्वदा एकस्मिन् रूपे एव तिष्ठति साधक महाभाग है ईश्वर से सत्ता की दृश्य अस्ति सर्वदा एक रस यथा उदाहरणी ने बिना कथम मन्या महे आकाश है उत्पन्न आकाश है वह अभावात्मक आकाश है यदि उत्पन्न आकाश अस्त चेत सद विकृति मापन होती तस्य उत्पादनम च श्रुतम अवकाश अवकाश तो पदार्थ रूप एवं रूपमेव नास्ती तथा भावात्मक है ईश्वर तो नया भावात्मक है समय काफी होगा परंतु यावत् यथा अवकाशः सर्वेषां पदार्थां कृते स्थान दास्यति ददाति सन्दीपमावागे भगवान वदतु किमपि ईश्वर से सत्ता की दृषि उदाहरण प्राकृतिक पदार्थानां तो सत्ता ईदृशी अस्ति कालान्तरे सा सत्ता तद्रूपेण न अवतिष्ठते यथा अस्माकं शरीरम् अस्य अपि सत्ता अस्ति भूमे अपि सत्ता अस्ति तो भूमि सत्ता अधुना यथा अस्ति तथैव कालान्तरेण स्थास्यति भवान् वदतु तो। यथा प्राकृतिकपदार्थानाम् आदिमूलकारणं प्रकृतिरस्ति हम्म। तस्य सत्ता नित्यः अस्ति तथैव ईश्वरस्य सत्ता अपि नित्यः अपरिणामी इति किञ्चित् समीपे गतः न यथा सत्त्वरजतमसां प्रकृति तस्य सत्ता यथा अस्ति तदपि किञ्चित् न्यूनम् तर्हि एवं वाच्यम् जीवात्मने यदा सत्ता अस्ति तथैव ईश्वरस्य सत्ता अस्ति कथं वदतु भवान् जीवात्मना यथा सत्ता अस्ति तथैव जीवात्मने कीदृशी सत्ता सदैव तो अखण्ड एकरस जीवात्मनः सत्ता ईदृशी सदैव अखण्ड एकरसेन वर्तते प्राकृतिकपदार्थानां सत्तायाम् अर्थात् रूपांतरम भवती चेतन चित चित हाँ, शब्द से को अर्थ है चेतनवान इति इस शब्द से अर्थ चेतनवान चेतना की दृष्टि ज्ञानम भवती किमपि घटना भवेत् तस्य ज्ञानम भवेत् किमपि घटना या कापि घटना भवान् वदतु येन किमपि ज्ञायते हम्म, हम्म। तत् चेतनम् हम्म। अर्थात् ये यत् जानाति अनुभवति अनुभवम अनुभवम करोति यथा यथा जीवात्मा यथा जीवात्मा चेतनो अस्ति तथैव ईश्वरोऽपि चेतनोस्ति न वा सन्धि मा महाभागे आनन्दे कीदृश ईश्वरस्य रणबीर महाभागे ईदृश ईश्वर से कीदृशे आनंद है ईश्वरे नित्या आनन्दः अस्ति तस्मिन् दुखम न वर्तते तस्मिन् दुःखं नास्ति इति किं प्रमाणम् शास्त्रं प्रमाणं कथमं शास्त्रम् वेदशास्त्रमेव अस्ति किमपि वक्तव्यम् प्रमाणं कस्य शास्त्रस्य प्रमाणं वेदशास्त्रस्य किमस्ति तद् यथा अकामो धीरो अमृतस्य हम्म, हम्म। रसेन तृप्त है <laughs> काम है धीर है अमृत है स्वयं भू रसेन तृप्त है हाँ, रसेन तृप्त इति आनंद अवगतम हाँ। ईश्वर है निराकार है निराकार है किम ईश्वर से आकार कीदृश आकार है यथा प्रकृतिक नाम आकारो वर्तते तादृश आकार से नास्ति आकारेण बिना किमपि वस्तु तत्व दृश्यते न लोके यद यद वस्तु तत्व तद आकार युक्तम संदीप माँ आगे गुणा सन्ति ये प्राकृतिक विद्यन्ते ते गुणा ईश्वरे न विद्यन्ते यथा उदाहरणं प्रदेयम् जीवात्मा हाँ, यथा जीवात्मा जीवात्मा जीवात्मा जीवात्मनि यथा आकार रहित है अर्थात जीवात्मनि आकारो नास्ति जीवात्मनि आकारो केन हेतु नास्ति हेतु जीवात्मनि आकारो नास्ति ईश्वरेपि आकारो नास्ति केन हेतु न नास्ति वदतु निरवयवत्वात् हाँ, निरवय तो यदि परमाणुः निरवयवाः सन्ति तेषाम् आकारो तेषु आकारो वर्तते कार्यपदार्थो पदार्थाः न हेतु अन्तरं हेतु अन्तरं निग्रहस्थानम् हेतु भवता उक्तं यथा प्रकृतिस्वरूपे चतुरजतमसां स्वरूपे आकारो नास्ति भवता उक्तम् इधर अयम हेतु तो खंडित है हेतु हाँ। हेतु हाँ हेतु हेतु रूप रस गंध रहितत्वात् हाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहितत्वात् ईश्वरे आकारो नास्ति इतना बहुत होगा उनको भी तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत या नहीं हम्म? क्यों जी कल्याण देव जी आ रही है समझ में आ रहा कुछ हमने योजना तो बनाई थी ये कल्याण देव आर्य को संस्कृत पढ़ाएंगे और महर्षि के ग्रंथ फिर दर्शन और फिर योग सिखाएंगे जब कहेंगे अब समाज का काम करो ये पहले भाग पड़े इस और अब चलो भाग के देख लेते हैं दौड़ लगा करके <laughs> अच्छा अब अधुना आर्य भाषया वदामी हम्म? तो आपको अनुभव तो होता है आपकी कितनी कमजोरी है या नहीं होता होता है नहीं होता हुँ? हम्म? आपको ये बतलाया गया कि दस लकारों का रूप धातुओं में कम से कम एक आत्मनीय पद धातु एक प्रश्नी पद का इतना याद कर ले तो सामान्य उनका ज्ञान लकारों का हो जाता है कि लकार में ऐसा रूप बनता है यदि अभ्यास नहीं करते तो उस लकार का जहां प्रयोग होगा वहां आप प्रयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे यदि मैं विद्या पढ़ता तो विद्वान हो जाता रणवीर जी इसकी संस्कृत बनाएंगे यदि अहम विद्याम अपठिष्यम तदा विद्वान अभविष्यम क्यों ठीक है या नहीं है विद्वान सम्यक यदि साधक जी विद्या पढ़ते तो विद्वान हो जाते आप बोलेंगे यदि साधक विद्या अपठिष्य हाँ। विद्वान अभविष्य हाँ यदि साधक महावाग है विद्याम अपठिष्यत तरही विद्वान अभविष्य विद्वान सह होगा फिर महाभाग लगाए विद्वान साहब आप महाभागम एक वचन एक वचन लगा दो कोई बात नहीं है भविष्य भविष्य ये भी तो बन गया ना या नहीं बना है जी यदि आचार्य जी विमान से न आते तो उनको देर हो जाती हाँ जी बोलो यदि आचार्य आचार्यमहाभागः विमानेन न आगमिष्यत् तर्हि तं विलम्बः अभविष्यत् हाँ, अच्छा बना दिया ना हाँ जी संदीप जी क्या बनेगा यदि आचार्य महाभाग ने न आगमिष्यत् तर्हि विलम्बो अभविष्यत् तो ऐसे विचार ध्यान करेंगे आप तो सब बोलना आएगा लिखना आएगा पढ़ना आएगा और याद रखिए एक बात जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं जिस विद्यालय में आप रहते हैं उस विद्यालय की जो है प्रसिद्धि उसका प्रचार उसका यश फैलेगा और दूसरे पक्ष में उसकी निंदा उसके ऊपर दोष लगेंगे ये वहां का विद्यार्थी इसको न संस्कृत बोलनी आती न इसको लिखनी आती न ये पढ़ा सकता ये भी ध्यान में रखना पड़ता अपनी परंपरा ऋषियों की परंपरा वेदों की परंपरा और ये समाज की मान्यताएं उसकी परंपरा अपने विद्यालय गुरुकुलों की परंपरा में यदि धब्बा लगता है तो हम उसके लिए बहुत पापी बन जाते हैं बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसे बच नहीं सकते आप नहीं ध्यान दे तो कुछ नहीं है इस बात को लेकर के भी व्यक्ति बुराई से बचता है और अच्छाई को करता है इसलिए ये राम का जो आता है ना रघु कुल रीत सदा चली आई ये क्यों रामायण में एक प्रसंग आया यदि रामायण में मिलावट भी होती है कि राम कहता है कि मैंने कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलूंगा अब देखो यदि ऐसे ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति जो है वो निश्चित रूपेण अपने सनमार्ग को छोड़ के कुमार्ग पर वो गिर पड़ता है चला जाता है यदि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कोई व्यक्ति हमको कहता है आचार्य अध्यापक कहते हैं ये विद्यार्थी नियम भंग करता है तो ये इतना बुरा लगता है इसका यदि आप सहन करते रहे और पढ़ते रहे तो आप अच्छे व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कभी भी नहीं बन सकते बन ही नहीं सकता वो ये नहीं कहलवाना चाहता कभी भी ये विद्यार्थी नियम में नहीं चलता ये नहीं ये सहन नहीं होता उससे नहीं होता सहन मैंने इसके प्रयोग किए विद्यार्थी काल में और वहां ऊपर से लेके स्वामी ओमानंद जी से सारे अध्यापक और सारे कार्यकर्ता गौशाला विभाग और खेती का विभाग और फार्मेसी का विभाग और सारे उनमें ये एक प्रसिद्धि थी बिल्कुल कि भाई ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता एक बार की घटना वर्षा हुई पर्याप्त वर्षा हो गई एक जिसको कुत्ते जैसे आकार का लगड़ बगा बोलते हैं उसको सुना होगा ऐसे होता है तो वो किसी ने देखा होगा एक और कार्यकर्ता बोल रहा था एक और एक ब्रह्मचारी बोल रहा था तो विद्यार्थी ने एक ने तो उसको कहा कि विद्यार्थी की कल्पना करते विद्यार्थी ने कहा मैंने आज भेड़िया देखा और कार्यकर्ता ने कहा नहीं वो लकड़ बगा था भेड़िया नहीं था दोनों की तो आपस में बहस हो गई तो उस विद्यार्थी ने कहा मेरा नाम लिया कि उन्होंने कहा वो लगर बग्गा था जैसे नहीं भेड़िया था जैसे तो एकदम वो रुक गए तो भाई उन्होंने कहा तो ये ठीक ही कहा है फिर वो मान गया कोई भी बात जब आती है तो वो एकदम उसका प्रभाव कैसे होता है ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है यदि आपके मन में ये बातें हैं आदर्श आपके सामने है तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे महान बनेंगे सफलता मिलेगी नहीं तो नहीं बन सकते आप सब में मध्य कोटि के बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे ऐसा मत सोचना <laughs> आप उपदेशक बन सकते हैं आप लेखक भी बन जाएंगे आप अध्यापक अध्यापक भी बन जाएंगे बहुत कुछ हो जाएगा पर आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकते आप जो बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक पक्षपात रहित होकर सदा सत्य बोलता सत्य ही मानता सत्य ही करता ये आदर्श व्यक्ति का लक्षण असावधानी से अल्पज्ञता से कोई त्रुटि हो जावे उसको मैं स्वीकार कर लेता क्या आपने ऐसा व्रत संकल्प ले रखा है कि हम सदा ही सत्य ही जानेंगे सत्य ही मानेंगे सत्य ही बोलेंगे सत्य ही करेंगे तो हाथ खड़ा करो किस किस ने ले रखा हाँ जी सबने ले रखा है आपने नहीं ले रखा कठोरता होनी चाहिए स्वामी जी उतनी कठोरता नहीं है उसमें व्रत में जी स्वामी जी अच्छा क्यों नहीं है कुछ अज्ञानता आदि के कारण से और असामर्थ्य आदि कारण से असामर्थ्य कैसा इस दिनचर्या आदि में नियम भंग कर देता हूं मैं हम्म। तो इस दृष्टि से तो नियम भंग न होने देना अपने पूरे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार और भंग हो जाए तो प्राश्चित करना मेरे नियम भंग हो गया इसका कोई दंड लो एक तो असमर्थ होता है कभी कभी जानबूझ करके भी मैं नियम का भंग कर देता हूँ तो इस दृष्टि से मैंने पूरा पूरा सत्य के ऊपर कठोरता से मैंने व्रत नहीं लिया है जो व्यक्ति पूरा जोर लगाए व्रत नहीं लेने की बात हेतु नहीं है इसलिए मैंने व्रत नहीं लिया ये हेतु नहीं है व्रत तो जन्मते ही साथ जुड़ा हुआ रहता व्यक्ति के मनुष्य जन्म आया और सत्य का व्रत हो गया वो प्रतिज्ञा करे नहीं करे ये नियम नहीं है कि वो प्रतिज्ञा करे तो दोष लगेगा और न करे तो दोष ही नहीं लगेगा ऐसा नहीं ये जो व्यक्ति सोचता समझता है मैं झूठ बोल करके लाभ उठा लूंगा मैं झूठ बोल करके दोषों से बच जाऊंगा मैं झूठ बोल करके मुझे लाभ होंगे झूठ बोलने से ये उसका दिमाग खराब है व्यक्ति का शंका है हाँ जी यदि हम किसी से कुछ बात करते हैं या उत्तर देते हैं तो असावधानी बस उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है जैसा मन में रहता है वैसे ही वाणी निकल नहीं पाती है और वो व्यक्ति जब सामने से चला जाता है बाद में फिर हम उसमें चिंतन करते हैं यह तो कुछ अंश अगत्य हो गया ठीक बात है तब मन में दुख होता है तब क्या करना चाहिए तब ये करना चाहिए आगे आने वाले में सावधान हो जाना इसका तो सोचना ही चाहिए भूल हो गई है पर आगे ऐसा नहीं होने दूंगा फिर हो गया फिर नहीं होने दूंगा ये कोई तत्काल हो जाए जरूरी नहीं है आप बरसों तक अभ्यास करते जाएंगे और गिरेंगे उठेंगे लाख बार गिरेंगे लाख बार गिरेंगे उठेंगे ये करते ही जाने से वो कम होता चला जाएगा ये कम होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा ये जमती चली जाएगी वो बात ऐसे सुधार हो जाएगा ये मानना कि मैं व्रत लेता हूँ और वो टूट जाता है इसलिए मैं व्रत नहीं लेता इसलिए व्रत लेना अच्छा नहीं ये अविद्या की बात है अविद्या जनित मान्यता है जो व्रत नहीं लेता इन हेतुओं से उस व्यक्ति का जीवन का स्तर मन वचन कर्म से सत्य आचरण उसका चरित्र नीचे गिरता चला जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं है नीचे गिरेगा वो वो वहीं भी रुका नहीं रह सकता व्रत लेने वाला आगे बढ़ेगा और कम से कम जहां आज रुका हुआ है आगे नहीं बढ़ पाएगा वो गिरेगा नहीं आगे कभी आप ये व्रत लेते हैं क्योंकि सत्य में तो सब कुछ आ जाता है आप कभी ये व्रत लेते हैं मन में कि वेद के विरुद्ध ऋषियों के विरुद्ध आर्य समाज के सिद्धांत नियमों के विरुद्ध लाखों की संख्या में संप्रदाय फैल रहे और वो अपना साहित्य अपने अरबों रुपए के उनके आश्रम हैं और उनके हजारों लोग उनमें लगे हुए हैं तो आपके मन में ये व्रत संकल्प इसके सत्य में नहीं आता क्या हाँ, हम अपने आप को सुसज्जित कर अच्छा विद्वान योगाभ्यासी बना और उन सारी समस्याओं को उनकी परंपराओं को हटाएंगे उल्टी परंपराओं को और वैदिक परंपराओं को हम इस संसार में संस्थापित करेंगे ऐसा मन नहीं बनता आपका है? क्यों जी या भाई थोड़ा सा पढ़े देख लो झटा झट पढ़ लो फिर कच्चे बच्चे पैदा करेंगे ये या बनता है हम्म? है जी क्यों जी बोलो कैसा बनता है ऐसा नहीं बनता कैसा बनता है आगे उन्नति करने का ये आपको दिखता है कितने बड़े बड़े संप्रदाय लाखों करोड़ों लोग वेद के विरुद्ध प्रचार करते हैं वेद के विरुद्ध साहित्य है वेद के विरुद्ध उनके आश्रम है वेद के विरुद्ध उनके सन्यासी और दूसरे प्रचार करते हैं देश विदेश में क्या आपको ऐसा नहीं दिखता देखो कितना अनर्थ हो रहा है और कितना बुराई फैल रही है वेद को बिल्कुल ही दबाया जा रहा है अभी अभी एक पुस्तक हम वहां से लाए थे ब्रह्मा कुमारियों की उसका नाम है योग विधि और सिद्धि ये नाम है क्या समझे छोटी छोटी और भी पुस्तकें तो उस पुस्तक में वेदों का खंडन छह दर्शनों का खंडन मनुस्मृति का खंडन सत्यार्थ प्रकाश का खंडन और सारा योग दर्शनकार का खंडन उनको एडी से चोटी तक कोई छोड़ा ही नहीं जो वेद की परंपरा उसको आघात ने पहुंचाया और ये लाखों की संख्या में करोड़ों अरबों की संपत्ति राजा महाराजाओं जैसे ठाट किसी प्रकार की कमी नहीं उनके भोजन की व्यवस्था देखो चौदह कितने हजार ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले चौदह हजार उनके अनुसार आप कल्पना करिए हम ये देखते रहे आप अपना घर देखते रहे मेरा घर उजड़ जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरी खेती खराब हो जाएगी मेरे वो हो जाएगा ये देखते रहो दो चार कुछ तो कम और कुछ यही देखने लग जाओ और ये जो बचा हुआ है ना जो आज अंश जो हम जो पुरुषार्थ करते हैं मेहनत करते ये भी आगे चल करके यदि इसकी रक्षा वाले नहीं तैयार हुए तो ये भी लुप्त होगा स्थिति आएगी आप देख सकते हैं कि जो कुछ जानते हैं जो समझते हैं